और जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पुख्ता कस्में खाई कि जो मर जाएगा अल्लाह ताला उसे दोबारा नहीं उठाएगा क्यों नहीं ये उसके ज़िम्मे एक सच्चा वादा है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं